क्या इस प्रकार से उनका आलस दूर नहीं हो रहा है वो नहीं उचित हो रहे थे उनको फल नहीं मिला ज्ञान वैराग्य को नारद जी को चिंता हुई कि इनकी अहो निर्जा कथम जाती वृद्धत्व की माफ कर इस प्रकार से अभी इनकी निद्रा कैसे निवृत्त हो उनका बढ़ावा कैसे छूटे ऐसा मन में सोचते हुए भगवान का स्मरण किया हूं तो आकाशवाणी जी और कहा अरे नारद जी तुम तीन मत हो तुम्हारा ये जो साधन जो करने लगे हो तुम्हारा सफल होगा पर इनके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और किस क्या करने से क्या साधन करने से किस कर्म के करने से ज्ञान वैराग्य उत्थित होंगे ज्ञान ज्ञान वैराग्य जागृत फिर किस कर्म से होंगे वो कर्म का उपदेश तुम्हें कोई साधु संत करें ये आकाशवाणी ने ही बात कही नारद जी ने कहा यार भगवान ने कृपा तो की परंतु वो संत हमें कहा मिलेंगे जो इस साधन को बताएंगे आकाश आकाशवाणी आती गुप्त के निरूपिता इसने तो गुप्त बात कही कुछ साफ साफ बात थी स्वाभिश्रेष्ठ संत से कथम दास संत साधन हम संत हमको मिलेंगे का जो साधन को बताएंगे ज्ञान वैराग्य जिससे प्रबुद्ध हों जो जीव के हृदय में सोए हुए हैं उन ज्ञान वैराग को को प्रबोध हो जागृत हो जाए ऐसा साधन बताने वाले संत मिलेंगे हमें सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार उन ज्ञान वैराग को वहीं स्थापित करके नारद जी जो हैं तीर्थों में भ्रमण करने लगे कि संत महात्मा तीर्थों में मिलते हैं और जाकर के जो संत मिलते उनसे पूछते थे तो कोई कुछ कहते कोई कहते महाराज तो बड़ी असाध्य है बात हाँ ये महीने में नहीं आते कोई चुपचाप मुंह हो जाते मौन हो जाते कोई ये सोचते जब नारद जी स्वयं नहीं जानते तो और कौन साधन बताएगा और कहने लगे जब वेद वेदांत गीता आदि से ही जब ज्ञान वैराग प्रबुद्ध नहीं हुए तो और क्या साधन हो सकता है ऐसे वही चर्चा करने लगा तब तो <clears throat> नारद जी ने वहां बद्री बनना बद्रिकाश्रम में नारद जी पहुंचे वहां उन्होंने संपादित महर्षियों को देखा कोट सूर्य समाभासान वागम सत्ता वो अत्यंत तेजस्वी संपादित महर्षियों को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आज बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ है आप शीघ्र कृपा करके आप उनको बताइए आप तो योगी हैं सबके सब बुद्धिमान हैं बहुत शुद्ध हैं पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशा मत पूर्वजा हैं तो आप पूर्वजों के भी पूर्वज परंतु आप मालूम ऐसे होते हैं पांच छह छह वर्ष के आप सदा वैकुंठ लया सदा वैकुंठ में आप बात करने वाले हैं हर कीर्तन तत्परा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते हैं कथा मात्र जीवन भगवान की कथा ही एकमात्र आपके जीवन का साधन है हरिशरणमेवम ही नित्यम येषाम मुखे रथा महाराज जी कहते हैं कि आपके मुख से सदा श्री हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम ये ये शब्द निकलते रहते हैं ये सड़क शरणम श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम हरिशरणम एवं ही नित्यम येषाम मुखे वता अतः काल जरा स्मान काल से प्रेरित ये जरावस्था आपका स्पर्श नहीं करती उसके प्रभाव से आपके संकेत मात्र से भ्रू बंग मात्र से भगवान के द्वारपाल जो है आखिरी होने में पहुंचते बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए आकाशवाणी ने जो जिस साधन के प्रति संकेत किया है वो क्या साधन है आप बताइए उनका फिर महर्षि बोले नारद जी तो आप चिंता न करें वो जो उपाय है जो आकाशवाणी ने निर्देश किया है जो के लिए वो सुख साध्य है कोई कठिन नहीं है आप तो भगवान के भक्त हैं कैसे कर्म मंतव्य भक्त्यर्थ मनवर्ती भगवान ऋषियों ने अनेक मार्ग प्रकट किए हैं वो सब श्रम साध्य हैं और केवल स्वर्ग आदि फल देने वाले हैं वैकुंठ का देने वाला जो साधन है मार्ग है वो तो भोग्य है ना उसका उपदेश करने वाला प्राय बड़े भाग्य से मिलता है आकाशवाणी ने जिस कर्म के लिए संकेत किया है उसको स्थिर चित्त होकर के सुनिए नाराज जी देखो दृढ़ यज्ञ होते हैं जो दृढ़ से साध्य होते हैं तप यज्ञ कृच्छ चांद्रायण जो व्रत हैं वो तप यज्ञ होते हैं योग यो, योग यज्ञ योगाभ्यास जो किया जाता है स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ तो ये एक ते तो कर्म भी सूचका ये तो स्वर्गाद फल देने वाले कर्म की ओर संकेत करते हैं पर सत्कर्म सूचक नूनम मोक्ष रूपी फल देने वाला हाँ, जो साधन है वो तो ज्ञान यज्ञ है वो क्या है श्रीमद भागवत आलापन और सतुगीता सुखा तो देवी ने जिसका प्रश्न किया है वो ज्ञान यज्ञ भक्ति ज्ञान तद भूषण बल भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल मिलता है उसको श्रवण करने से श्रीमद भागवत का श्रवण करने से जो सोए हुए हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति है ना तो जागृत हो जाते हैं और जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं कलयुग के जो दोष अंतकरण में आ जाते हैं वो ऐसे चले जाते हैं इन्हें सर्वे सिंह शब्दात प्रकार सिंह की गर्जना सुन करके जैसे छोटी मोटी भेड़ी आदि अगर छिप जाते हैं इस तरह से दोष नष्ट हो जाते हैं नारद जी ने कहा महाराज वेद वेदांत के पाठ से गीता के पाठ से जब भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल नहीं मिला तो श्रीमद भागवत का श्रवण करने से ज्ञान वैराग जागृत हो जाएंगे ये कैसे समझ में आता है क्योंकि भागवत में तो वेदार्थ ही बताया गया है श्लोक श्लोक पदे पदे उसमें तो वेदों का ही तात्पर्य है इसमें भी तो ये तो मेरा संदेह आप निमित्त कीजिए बिल्कुल नात्र कर दिया संपादित महर्षियों ने कहा बात ठीक है अनुष्ठान सारा जाता भागवती कथा ये श्रीमद भागवत जो है वो वेद और उपनिषदातों का सार है इसलिए उससे उत्तम है आमूला ब्रह्म संस्थन हास्ते न स्वगते यथा जैसे देखो किसी वृक्ष में रस रहता है पर वो फल में जैसा रस का स्वाद आता है और कलमी आम लगाते हैं ना अच्छा चौसा आम है या दशहरी आम है तो उसका पत्ता चलाओ तो उसमें क्या स्वाद है तो उसकी डाली चलाओ क्या स्वाद है तो उसकी डाली है पत्ते हैं उनमें कोई रस नहीं और वही वृक्ष का रस फल में पहुंच करके कितना मीठा हो जाता प्रतभूता फलो नीति फलाकृति प्रभु या भूता फले विश्व मनोहरा वही रस जो है गन्ने में रस रहता है और वही उसी रस की जब मिश्री बनाई ली जाती है कितनी मीठी होती है इच्छूनामाद मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति पृथक भूता रसामिष्ठा तथा भागवती कथा ऐसे ही वेद में कोई उनकी दिशा पढ़ो कोई मंत्र सुनो कोई वो रस नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक वृक्ष के समान है ना और और भागवत क्या है वो तो उसका फल है तो फल में जो रस है फल में जो स्वाद है वृक्ष में नहीं होता यथा बुद्धि स्थितम सर पर स्वादायु रूपकल्प दे और दूध में भी तो घी रहता है पर वो दूध में जो घी है वो घी का काम थोड़ी करेगा दूध में रहने वाला किसी ने कहा कि एक किसी की दो बीमार हो गई तो किसी से पूछा भाई हमारी गौ बीमार हो गई है तो उसने कहा अच्छा इसको एक एक पावर घी और उसमें एक तोले काली मिर्च मिला करके घी में और गौ को पिला दो गौ ठीक हो जाएगी तो उसने हिसाब लगाया इतना दूध देती है तो पावर दूध तो इसके है ही है घी तो है ही है इसमें तो उसने काली मिर्च ऊपर में लेकर के और खिला दी लाभ तो हुआ नहीं उसने कहा लाभ कुछ नहीं हुआ तो तुमने घी दिया था जो दे दिया था तो नहीं पर घी तो उसके है ही है दूध में तब नहीं अरे उस दूध में से घी अलग करके तब उसको दोगे तब लाभ करेगा ना यदा दुग्धे स्थितम फिर न कल्पते पृथक भूतम गद्यम देवानाम रसवत देवताओं को भी तृप्ति करने वाला होता है एवं भागवत नाम पुराणम ब्रह्म संतम ये शिवद भागवत का भागवत नाम का जो पुराण है ये वेद के समान है इसकी क्या है अभी तो कहा जो वेद से बढ़कर है अभी वेद के समान कह दिया नहीं नहीं ये अनागतान वेद के समान है वेद से तो वेद से बढ़कर इसमें रस है वेद वेदों का फल है भक्त ज्ञान विरागाणाम स्थान स्थापना प्रकाशिताम कहते हैं देखो वेद में गीता आदित में सुस्नाथ जो व्यास जी थे उनको जो शांति नहीं मिली नारद जी आपने ही तो उपदेश करके उनके उनको शांति प्रदान की थी तदा दया परापुरोत्तम चतुश्लोक समन्वितम ये चतुश्लोकी भागवत आपने जब उपदेश किया तब उनको शांति मिली फिर आपको क्यों आश्चर्य होगा और फिर कहा बहुजन में समर्पित है नाराज जी बोले महाराज आप जैसे महापुरुषों का दर्शन बड़ी कठिनाई से होता है यद दर्शन चिदिनिहन केशवान सत्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्पिता निःशेषशेषविपगीत प्रकाश हेमप्रकाशकृतै शरण गतोऽस्मि नारद जी कहते हैं महाराज आप जैसे महापुरुषों का दर्शन बड़ी भाग्य का फल है आप भगवान शेष के अशेष मुखों से भगवत कथा का पान करते रहते हैं जो मनुष्य के भाग्य का उदय होता है तब सत्पुरुषों का संग मिलता है और फिर जब संग मिल जाता है तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदान कारण स्वर अज्ञान से जन्म जो महामोह है उसका नाश करके और विवेक का उदय हो जाता है सत्संग से सत्संग से ही ये महान फल मिलता है नाराज जी बोले महाराजा मैं ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूं आपने जो आदेश दिया आप बताइए वो कहां करना चाहिए और कितने दिन में करना चाहिए संकालिक महर्षि बोले कि नारद जी गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नाम इसका नाम है गंगा द्वार हरिद्वार के तीन नाम है एक तो इसका नाम है हरिद्वार जो और एक नाम है इसका हरिद्वार और एक नाम है गंगा द्वार क्यों गंगा जी के लिए भी जाने का यही द्वार है और बद्रीनारायण जाएंगे तो यही होकर जाएंगे वो भी है और भगवान शंकर का जो कौन है केदारनाथ जाते तो यहीं से जाते तो इसको गंगा द्वार भी कहते हैं हरिद्वार भी कहते हैं हरद्वार भी कहते हैं तो गंगा भारद्वार सन्निकेतु तटमांड नामकम हम्म। यहां हरिद्वार के पास में एक आनंद तट नाम की जगह है तो जिसको सत सरोवर कहते हैं नाना रसगणी जिस्तम देव सिद्ध निश्चयता वहां बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं नाना पर लता किरणम वहां बड़ी वृक्षावली है और नव कोमल बालकन यहाँ बालका भी है सुंदर बालका है जहाँ और सुंदर देश है वहां ज्ञान व्यक्त करना चाहिए अपूर्व रस रूपात है कथा तत्व भविष्य वहां जब कथा होगी तो अपूर्व रस का होगा ये कारण है तो ताप महाराज से नारद जी ने समझो नारद शंकादिक महर्षि बोले तो कि चल होना क्या है चलो हमारे साथ बोलो हम तुम्हें उनकी कथा सुनाए नारद जी उनके साथ चल दिए गंगा तटम समाज मुंह कथा पानाय सत्वरा सब जब लोगों ने सुना कि नारद जी तो यजमान में सोता है और शंकादिक महर्षि कथा करेंगे तो बस सब लोग वहां आने लग गए भ्रभु वशिष्ठ चलन गौतम नेता तिथि देवल देवराज गाधीश्वर सातल नकंद पुत्र व्यास पराशर सब बड़े बड़े ऋषि सर्वे कमीगणा सर पुत्र शिष्या अपने पुत्रों को लेकर के शिष्यों को लेकर के बहुत भारी समाज इकट्ठा हो गया और जो है ये वेदों के लिए जो अधिष्ठाता देवता हैं मंत्र तंत्र सब मूर्तमान होकर के वहां पहुंचे गंगा दादी नदियां भी मूर्तमती होकर के पहुंचे जो गौरव के कारण नहीं आए उनको भरूजी लिवा करके ले आए जैसे ऐसे महापुरुष भी थे अरे हमारे पास तो कोई बुलाने तो आया ही नहीं निमंत्रण नहीं आया था तो गुरुता नाया काम प्रभु संबोध दिशाने का अरे ऐसी ये इसमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है अरे चलो भाई भगवान की कथा तो रही है चलो सुनेंगे नारद जी के द्वारा दीक्षित होकर के संकादित महर्षि बैठ गए निषेधे कृष्ण तत्परा वैष्णव विरक्त महात्मा सन्यासी ब्रह्मचारी मुक्त भाग में एक और बैठ गए एक, एक और ऋषि आदि बैठ गए जय का शब्द होने लगा पुष्पों की वर्षा होने लगी सनकादिक महर्षि बोले नारद जी देखो हम वो कथा आपको सुनाते हैं जिसके सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है सदा से व्या सदा व्या श्रीमद भागवती का यश्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समास है इसके सुनने से भगवान मन में आ जाते हैं चित्त में आ जाते हैं ये इसमें अठारह हजार श्लोक हैं बारह स्कंद हैं परीक्षित सुख संवाद है उसको भागवत कहते हैं जब तक संसार में भ्रमण करता रहता तो है जी जब तक श्रीमद भागवत की कथा इसके कानों में नहीं पड़ती कथा भागवत नित्यम भगवती भगवती ग्रह भागवत की पाठ या कथा जिसके घर में रोज होती है तद ग्रहण तीर्थ रूपम की उसका घर तो तीर्थ बन जाता है और वहां रहने उस घर में रहने वाले लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं न गंगा काशी पुष्कर न प्रयासम सुख सास कसाया से फले में समतान इसकी समानता किससे की जाए श्लोक आधा श्लोक एक श्लोक नित्य भागवत का पटस्व समुखे देव यदिक्षस परा परांगति और एक श्लोक का योग पाठ कर लिया करो आधे का कर लिया करो समुखे नहीं हो अपने आप देखो वेद आदि का वेद माता गायत्री पुरुष सूक्त वेदत्रयी द्वादशाक्षर मंत्र द्वादशात्मा सूर्य प्रयाग संवत्सात्मक काल ब्राह्मण अग्निहोत्र सूर्य गौ द्वादशी तिथि और तुलसी वसंत ऋतु भगवान पुरुषोत्तम इनमें केवल नाम मात्र का भेद है न पृथक भाविष्य यश भागवत अनुशासन पाचेत अर्थ तो निशब्द और अर्थपूर्वक विचार पूर्वक जो भागवत का पाठ करता है वो तमाम जन्म कोट कृतम पापम नश्यते नाथ संशय करोड़ जन के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और इसमें संदेह मत करना ये बात है यहाँ बोलने का अवकाश नहीं दिया जाता संदेह का अवकाश नहीं दिया है नाथ संशय उत्तम भागवत नित्यम कृतम हरिचंदनम तुलसी पोषणम चाहिए जैनिनाम से ये भागवत का पाठ नित्य करना भगवान का ध्यान चिंतन करना तुलसी का पोषण करना और कोई पढ़ा लिखा हो तो तुलसी को मैं जल देता रहे उसका पूजन करता रहे गौ सेवा करता रहे पर अंतरागे तो यही नहीं हो सूर्य के सुख शास्त्र बात और मरने के समय अगर श्रीमद भागवत श्रवण करने को किसी को मिल गई तो तो, तो प्रसन्न होकर के भगवान अपना वैकुंठ ही सजे देते हैं सोने का सिंहासन बना करके उस पर भागवत रख करके किसी वैष्णव को भगवान के भक्त को देता है वो तो भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ही रखते हैं आजन्म मात्म ये निषठे न किंचित चित्तम विधाय शास्त्र और जन्म बीत गया एक बार में भगवान ये मंगलमयी कथा न सुनी तो चांदाल के समान पशु के समान व्यर्थ ही उसने अपने जीवन को व्यतीत किया ऐसे तो संपादन महर्षि कहते हैं इसमें दिनानाम नियम नाश कोई दिनों का वैसे नियम नहीं नित्य भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए पर सत्य का पालन करना ब्रह्मचर्य से रहना ये तो हो नहीं सकता असत्यत्वाद करो इसलिए भाई इसमें सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है इसलिए सात दिन तक तो आप रह सकते हो सात दिन तक नियम कर लो भाई झूठ नहीं बोलेंगे सत्य बोलेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे नियम से रहेंगे यह से तपसा नहीं हुए समाधना अनायास में सर्वम सप्ताह प्रमाण रहे एक विधि विधान से नियम से सात दिन तक भगवान की कथा श्रवण करो बहुत फल मिलेगा यज्ञान करते सप्ताह सप्ताह गर्जति प्रकार गर्जति का अर्थ है उत्कर्षण करो यज्ञ से भी बढ़ करके तप से भी बढ़ करके व्रत से भी बढ़ करके सब साधनों से ज्यादा ये अपने को रखता है ये श्रीमद भागवत का भी सरल है सूर्य जी बोले कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरातल को त्याग करके वैकुंठ जा रहे थे तो एकादश स्कंद का श्रवण किया उद्धव ने और उद्धव ने भगवान से निवेदन किया कि महाराज आप तो वैकुंठ को जा ही रहे हैं पर मेरे हृदय में एक बड़ी भारी चिंता है कि ये कलयुग तो आपके कलयुग तो आपके सामने आ ही गया है और महान का जो कलयुग है इसमें सब के स्वभाव दूषित हो जाएंगे और तत्संगे नई संतोषी गमिष्यन शुभ्रता अच्छे अच्छे संत लोग भी उनका भी स्वभाव दूषित हो जाएगा फिर भी पृथ्वी भारवती हो जाएगी आपसे अन्य कोई इसका रक्षक नहीं है इसलिए आप महा दया करके आप यहां से जाओ मत ये धरातल पर आप यहां रहो भक्तार्थम सगुरु हो निराकार चिन्ह भक्तों के लिए आप सगुण साकार बने हैं और फिर आप धरातल को छोड़ करके उधर जा रहे हैं हाँ? आपके देव को कैसे भक्त लोग चयन करेंगे निर्गुण उपासना करने में बड़ा कष्ट है हाँ? उद्धव जी ने की वचनों को सुनकर भगवान बोले अच्छा भक्तावलंबन है किम विधेयम मयज भगवान विचार किया तो भक्तों के अवलंब के लिए हमें क्या करना चाहिए तो स्वप्नियम जब भगत भवित भगत तेज तथ्य भागवते रखा भगवान ने फिर कहा लो हम अपनी सारी शक्ति अपना सारा तेज वो भागवत में रखे दिए कभी कविशोयम श्रीमद भागवता नवम भगवान जो है अंतर्भूत होकर के मानसी भागवत में ही प्रवेश कर गए इसलिए इस भागवत क्या है तेनेयम मानमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे भगवान की ये बांगमयी मूर्ति है प्रत्यक्ष सेवनाथ श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशन इसके दर्शन से ही पाप नष्ट होते हैं हाँ। एक बार फिर जगत गुरु जी हमको सुना रहे थे श्री कृष्णदास महाराज कि एक मंदिर में बैठे हुए भागवत का पाठ कर रहे थे एक व्यक्ति पे कोई प्रेत रहता प्रेत से आविष्ट था प्रेत उसे दुखी करता रहता और तो उसका कोई संबंधी उस व्यक्ति जिस पर प्रेत था उसको हमारे पास ला रहा था स्वामी जी के पास ले चले से कोई उपाय बताएंगे तो कहते हैं उस जिस पर प्रेत था उस व्यक्ति को हमारे पास लाया हम पाठ कर रहे थे भागवत हमारे सामने रखी थी उसने कहा महाराज देखो ये बड़ा दुखी है एक प्रेत इसको इसको दुखी करता है स्वामी ने कहा क्या बात है यहाँ हमारे पास आ बोले कि तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता तुम्हारे सामने तो अग्नि जल रही है अग्नि कहां जल रही है हमारे सामने तो भागवत रखिए तो नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं आ सकता और मुझे तो मालूम होता आपके सामने अग्नि जल रहा है बोला वो प्रेत तुम्हारे पास नहीं आ सका फिर हमने कहा चले तो हमने भागवत बांध करके ऊपर जल रख दी तब हमारे पास बैठ करके बात कर सका तो ये सेवना दर्शनात्ता दर्शनात्मा जिसके घर में श्रीमद भागवत का आरती पूजा होती है जिसके घर में श्रीमद भागवत विराजमान है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां विराजमान तो इस प्रकार से सूत कहते हैं एवं नगा श्रवणो धर्मे प्रकाश्य माने ऋषि सतायाम जब ऋषियों के द्वारा ये सप्ताह श्रवण की विधि बताई जाती जा रही थी भागवत की महिमा गान का गान हो रहा था उसी समय भक्ति जो है अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य का प्रबोध हो गया तरुण अवस्था उनको प्राप्त हो गई और ज्ञान वैराग्य को लेकर के भक्ति वहां प्रगट हो गई और ये इस प्रकार से कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेषाम दर्शु सदस्य हो भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुई वो भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके दोनों पुत्र साथ में लोग कहने लगे कथम प्रविष्टा कहाँ से आई किधर से आई हमारे संकालिक महर्षियों ने कहा ये अभी ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई है आई कहां से यही हुई प्रकट हो गई इसके अंदर भक्ति भगवती ने आकर कहा अरे ऋषियों आपने हमको पुष्ट कर दिया भगवत भी अजैव प्रकाश में पुष्टा कलित प्रनिष्ठा कलयुग में ज्ञान वैराग हमारे शिथिल हो गए आपने कथा रस से सींच करके हमको पुष्ट कर दिया अब ये बताओ मैं कहा निवास करूं तब तो सनकादिक महर्षि बोले कि देवी तुम ये हमसे पूछती हो कहा निवास करें अरे भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो शु गोविंद स्वरूप धर्त्री प्रेमय तो कर्त्री अवरो वहंत्री सापंचस्व सुधैर्य संशया निरंतर वैष्णव मानसानी सब भक्तों के हृदय में आप निवास करो सकल भवन मध्य निर्धना स्थित धन्य संसार में वो व्यक्ति धन्य है कि जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है चाहे धन हो न हो भगवत भक्ति रूप धन तो उनके पास है भगवान अपने लोग को छोड़ करके उनके हृदय में आ जाते हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है और वहां भगवान के भक्तों के हृदय में जब भक्ति निवास कर गई और भगवान भी अपने वैकुंठ को छोड़ करके जहाँ भक्त लोग बैठे थे प्रेमी लोग बैठे थे यहां वहां भगवान स्वयं प्रकट हुए थे इस रूप से वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कला रुचरो लसन मुकुल सुंदर मुकुट सुंदर वनमाला पहने हुए मेघ के समान सांवला सांवला जिनके शरीर का वर्ण है पीताम्बर धारण किए हुए और मुकुट कुंडल कानों में सिर पर मुकुट कानों में कुंडल और त्रिभंग ललित चार कौस्तु भी नजरानिता त्रयो भंगा उदय रेखा तई ललिता तीन रेखा जिनके उदय में उससे अंत अत्यंत सुंदर मालूम हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण उनके कंठ में कौस्तु मणि थी करोड़ों कामदेव के समान जिनका सौंदर्य ऐसे भगवान हाथ में वंशी लेकर के अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हुआ जहां उनके भक्तों के हृदय में भक्ति जब आई तो भगवान भी उनके हृदय में प्रकट हुआ उस समय तो सभा में जो स्थित थे उनको देह और गेह की विस्मृति हुई भगवान के ध्यान में सब मस्त हो गए जितने सभा में लोग बैठे थे भगवान के ध्यान में मस्त हो वो तन्मयी अवस्था देख करके नारद जी ने देखा हो ये तो सब लोग समाहित हो गए भगवान के ध्यान में मस्त हो गए और ये मैंने विचित्र भागवत के श्रवण की महिमा देखी नारद जी कृत हो गए प्रसन्न हो गए कहने लगे कि कथा समान गया श्रीमद भागवत कथा के श्रवण के बराबर और क्या साधन है सब बड़े बड़े पापी भी ये कथा का श्रवण करके पवित्र हो जाते हैं बोला इस विषय में हम एक कथा सुनाते हैं अत्र के कीर्तिष्यामी इतिहासम पुरातनम ये जो है नारद जी का और शंकालिकों का संवाद यही कितना पुराना और वो उस समय वो कह रहे हैं कि हम तुमको और पुरानी बात सुना रहे कितनी बात तुंगभद्रा नाम के तट पर एक हाँ, जो है उत्तम नगर था पत्तन उत्तम कोई महात्मा कहते हैं तो